भगवान ऋषि श्रेष्ठ लाउत्से का वचन है अध्याय पचास जीवन का संरक्षण जीवन से ही निकलकर मृत्यु आती है जीवन के साथी यानी अंग तेरह हैं मृत्यु के भी साथी तेरह हैं और जो मनुष्य को इस जीवन में मृत्यु के घर भेजते हैं वे भी तेरह ही हैं ये कैसे होता है जीवन को विस्तार देने की तीव्र कर्मशीलता के कारण कहते हैं जो जीवन का सही संरक्षण करता है उसे जमीन पर बाघ या भैंसे से सामना नहीं होता न युद्ध के मैदान में शस्त्र उसे छेद सकते हैं जंगली भैंसों के सींग उसके सामने शक्तिहीन हैं, बाघों के पंजे उसके समक्ष व्यर्थ हैं और सैनिकों के हथियार निकम्मे हैं ये कैसे होता है क्योंकि वह मृत्यु के पार है chapter fifty the preserving of life out of life death enters the companions of life are thirteen the companions of death are also thirteen what send man to death in this life are also thirty how is it so because of the intense activity of multiplying life It has been said that he who is a good preserver of his life meets no tigers of tigers or wild buffaloes on land, is not vulnerable to weapons in the fields of battle. The horns of the wild buffalo are powerless against him. The paws of the tigers are useless against him. The weapons of the soldier cannot avail against him. How is it so? because he is beyond death. जिसे तुम जीवन की भांति जानते हो वो अपने भीतर मृत्यु को छिपाए जीवन ऊपर की ही परत है भीतर मृत्यु मुंह बाय खड़ी और अगर तुमने जीवन को सिर्फ जीवन जाना भीतर छिपी मृत्यु को न पहचाना तो तुम जीवन को जानने से वंचित ही रह जाओगे मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं मृत्यु जीवन की संगी साथी नहीं वे दो नहीं वे एक ही घटना के दो छोर हैं जीवन जिसका प्रारंभ है मृत्यु उसी की परिसमाप्ति है गंगोत्री और गंगा सागर अलग अलग नहीं मूल स्रोत ही अंत भी है जन्म के साथ ही तुमने मरना शुरू कर दिया इसे अगर न पहचाना तो जो सत्य है जो जीवन का यथार्थ है उससे तुम्हारा कोई भी संबंध न हो पाएगा अगर तुमने जीवन को जीवन जाना और मृत्यु को जीवन से पृथक और विपरीत जाना तो तुम चुप गए फिर तुम्हें बार बार भटकना होगा और तुम उसे भी नहीं पहचान पाओगे जो दोनों के पार है क्योंकि जब तुम जीवन और मृत्यु को ही न पहचान पाए तो उन दोनों के पार जो है उसे तुम कैसे पहचान पाओगे और वही तुम हो कबीर ने कहा है मरते मरते जग मुआ और स्मरण को सारा जग मरते मरते मर रहा है लेकिन ठीक रूप से मरना कोई भी नहीं जानता एक सयानी आपने फिर बहुर न मरना हो लेकिन कबीर एक सयानी मौत मरा और फिर दोबारा उसे लौट के न मरना पड़ा जो भी ठीक से मरने का राज जान गया वो जीने का राज भी जान गया क्योंकि वे दो बातें नहीं है और जानते ही दोनों के पार हो गए और पार हो जाना ही मुक्ति है पार हो जाना ही परम सत्य है न तो तुम जीवन हो न तुम मृत्यु हो तुमने अपने को जीवन माना है इसलिए तुम्हें अपने को मृत्यु भी माननी पड़ेगी तुमने जीवन के साथ अपना संबंध जोड़ा है तो मृत्यु के साथ संबंध कोई दूसरा क्यों जोड़ेगा तुम्हें ही जोड़ना पड़ेगा जब तक तुम जीवन को पकड़ के आसक्त रहोगे तब तक मृत्यु भी तुम्हारे भीतर छिपी रहेगी जिस दिन तुम जीवन को भी फेंक दोगे कूड़े करकट की भांति उसी दिन मृत्यु भी तुमसे अलग हो जाएगी तभी तुम्हारी प्रतिमा निखरेगी तभी तुम अपने पूरे निखार में अपनी पूरी महिमा में प्रकट हो उसके पहले तुम परिधि पर ही रहोगे मृत्यु भी परिधि है और जीवन भी तुम दोनों से भीतर और दोनों के पार दोनों का अतिक्रमण कर जाते हो ये जो अतिक्रमण कर जाने वाला सूत्र है इसे चाहो आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो चाहे निर्वाण कहो मोक्ष कहो जो तुम्हारी मर्जी हो अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग नाम दिए लेकिन बात एक ही कही सब सयाने एक मत और अगर सयाने में तुम्हें भेद दिखाई पड़े तो अपनी भूल समझना वो भेद तुम्हारी नासमझी के कारण दिखाई पड़ता होगा सयानों के कहने के ढंग अलग अलग होंगे होने ही चाहिए सयानों के व्यक्तित्व अलग अलग हैं वे जो भी बोलेंगे वो अलग अलग होगा उनके गीतों के शब्द कितने ही अलग हों लेकिन उनका गीत एक ही है और संगीत वे अलग अलग वाद्यों पर उठा रहे होंगे लेकिन उनका संगीत एक ही है उनकी लयबद्धता एक ही है जो कबीर ने कहा है वही लाहौस से कह रहा है अपने ढंग से लाहौस से के एक एक वचन को समझने की कोशिश करें जीवन से ही निकलकर मृत्यु आती है out of life death enters तो तुम ऐसा मत सोचना कि मृत्यु कहीं अलग खड़ी है ऐसा मत सोचना कि मृत्यु कोई दुर्घटना है ऐसे मत सोचना कि मृत्यु कहीं बाहर से आती है कोई भेजता है तुम्हारे भीतर ही मृत्यु बड़ी हो रही तुम्हारे साथ ही चल रही अगर तुम बाया कदम हो तो मृत्यु दाया अगर तुम दाएं कदम हो तो मृत्यु बाया वो तुम्हारा ही पहलू है एक पैर तुम्हारा जीवन है तो दूसरा पैर तुम्हारी मौत है वो तुम्हारे साथ ही बह रही है तुम जब भोजन कर रहे हो तब जीवन को ही गति नहीं मिल रही है मृत्यु को भी मिल रही जब तुम सांस ले रहे हो तो जीवन ही उससे शक्तिमान नहीं हो रहा मृत्यु भी हो रही है तुम्हारी हर श्वास में छिपी भीतर आती श्वास अगर जीवन है तो बाहर जाती श्वास मृत्यु इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि मृत्यु कहीं भविष्य में है दूर सत्तर अस्सी साल बाद घटेगी ऐसे ही टाल टाल के तुमने जीवन गंवाया है यही सोच सोच के कि कभी होगी अभी क्या जल्दी है और मृत्यु अभी हो रही क्योंकि संसार इस क्षण के अतिरिक्त किसी समय को जानता ही नहीं कोई भविष्य नहीं अस्तित्व के लिए वर्तमान ही एकमात्र समय जो भी हो रहा है अभी हो रहा है इसी क्षण तुम पैदा भी हो रहे हो इसी क्षण तुम मर भी रहे हो इसी क्षण जीवन इसी क्षण मौत वे दो किनारे तुम्हारी जीवन की सरिता उनके बीच इसी क्षण बह रही तो तुम जो भी कर रहे हो वो दोनों को ही भोजन बनेगा तुम उठोगे तो जीवन उठाओ मौत भी उठी तुम बैठोगे तो जीवन बैठाओ मौत भी बैठी तो पहली बात लाओस से कहता है कि मृत्यु को तुम अपने से अलग मत समझ लेना सारे जगत में सारे पुराणों में कथाएं सभी कथाएं धोखा देती धोखा ये देती हैं कि मौत कोई भेजता है कोई यमदूत आता है भैंसे पर सवार होकर या कि कोई यमराज भेजता है मृत्यु को तुम्हें लेने के लिए ये सब बातें कहानियां हैं मृत्यु उसी दिन आ गई जिस दिन तुम पैदा हुए तुम्हारे जन्म के बीज में ही छिपी थी अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत जल्दी इस बात के उपाय हो जाएंगे कि जैसे ही बच्चा गर्भ धारण करेगा वैसे ही हम पता लगा लेंगे कितने दिन जिंदा रहेगा क्योंकि वो जो पहला बीज है उस बीज में ब्लूप्रिंट उस बीज में पूरी कथा छिपी है कि ये कितने साल जिएगा सत्तर के अस्सी के पचास के दस के पांच ज्योतिषी तो हार गए भविष्य के संबंध में बता बताकर विज्ञान जल्दी ही बताने में पूरी तरह समर्थ हो जाएगा तो बच्चे के सर्टिफिकेट के साथ कि बच्चे का जन्म हुआ तुम जाके सर्टिफिकेट ले आ सकोगे वैज्ञानिक से कि कितने दिन जिएगा कितनी इसकी उम्र होगी मौत उसी दिन आ गई जिस दिन ये पैदा हुआ कहीं और मौत घटने वाली नहीं इसलिए तुम टाल ना सकोगे इसलिए पोस्टपोन करने का कोई उपाय नहीं और तुम टालते हो और तुम भी भली भांति पहचानते हो इस बात को कि रोज तुम बूढ़े हो रहे हो रोज तुम मर रहे हो रोज तुम्हारे हाथ से जीवन ऊर्जा छूटी जाती रोज तुम खाली हो रहे हो लेकिन फिर भी तुम टालते हो वो कहानी तुम्हें सहायता देती है कि मौत कहीं अंत में जल्दी क्या है अभी और दूसरे काम कर लो इसलिए तुम धर्म को भी टालते हो क्योंकि जिसने मौत को टाला उसने धर्म को भी टाला जिसने मौत को आंख भर के देखा वो धर्म को ना टाल सकेगा क्योंकि धर्म मौत के पार जाने का विज्ञान तुम बीमारी ही टाल देते हो तो औषधि को टालने में क्या कठिनाई इसलिए तो पशुओं में कोई धर्म नहीं वृक्षों में कोई धर्म नहीं क्योंकि उन्हें मृत्यु का कोई बोध नहीं छोटे बच्चे पैदा होते से धार्मिक नहीं हो सकते छोटे बच्चे पैदा होते से तो अधार्मिक होंगे ही क्योंकि वे पौधों जैसे हैं पशुओं जैसे हैं उन्हें भी मौत का कोई पता नहीं सच तो यह है कि जिस दिन बच्चे को पहली दफा मौत का पता चलता है उसी दिन बचपन समाप्त हो गया उसी दिन भय प्रविष्ट हो गया उसी दिन वो पौधों और पशुओं की दुनिया का हिस्सा न रहा अदम ईदन के बगीचे के बाहर निकाल दिया गया अब वो बगीचे का हिस्सा नहीं जिस दिन बच्चे को पता चल गया कि मौत है उसी दिन वो बूढ़ा हो गया लेकिन फिर जिंदगी भर हम टालते कि है मौत जरूर लेकिन अभी नहीं अभी नहीं करके हम अपने को सांत्वना देते फिर हमें यह भी दिखाई पड़ता है जब भी कोई मरता है कोई दूसरा ही मरता है हम तो कभी मरते नहीं कभी ये पड़ोसी मरता है कभी वो पड़ोसी मरता है तो मन में हमें भ्रांति संजोए रखते कि मौत सदा दूसरे की होती है अपनी नहीं और अभी बहुत देर है और आदमी के मन की क्षमता इतनी नहीं है कि वो तीस चालीस पचास साल लंबी बात सोच सके आदमी के मन का प्रकाश छोटे से मिट्टी के दिए का प्रकाश है बस दो चार फीट तक पड़ता है इससे ज्यादा नहीं चार कदम दिखाई पड़ते हैं बस उतना काफी भी है इसलिए जब भी तुम किसी चीज को बहुत दूर उठाल देते हो तो वो न होने के बराबर हो जाती जैसे तुमसे कहे कि तुम्हारी मृत्यु अभी होने वाली है कोई बताए कि अभी तुम मर जाओगे घड़ी भर में तो तुम्हारा रोआ रोआ कब जाए लेकिन कोई कहे कि मरोगे सत्तर साल में कुछ भी नहीं कपता सत्तर साल इतना लंबा फासला है कि तुम्हें करीब करीब ऐसा लगता है कि सत्तर साल इतने दूर है अनंतता मालूम होती है कोई डर की अभी जरूरत नहीं फिर सत्तर साल हाथ में है हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं बचने के लेकिन अगर ही मौत हो रही हो तो उपाय भी नहीं है करने का समय भी नहीं तब तुम कब जाते हो तब तुम भयभीत हो जाते हो लेकिन क्या फर्क है मौत सत्तर साल बाद घटेगी सात क्षण बाद मौत घटेगी अगर मौत घटेगी तो घट ही गई यही तो बुद्ध ने कहा मुर्दे को देखकर वो तुम नहीं कहते इसलिए तुम बुद्ध नहीं हो पाते बुद्ध ने मुर्दे को देखकर यही तो कहा कि अगर मौत होती ही है और मेरी भी होगी तो कहा अपने सारथी को लौटा ले रथ वापस जाते थे एक युवक महोत्सव में भाग लेने वर्ष का बड़े से बड़ा उत्सव था और राजकुमार ही उसका उद्घाटन करता था सारथी से कहा वापस लौटा ले अगर मौत होनी ही है और मेरी भी होनी तो अब मेरे लिए कोई महोत्सव न रहा अब मेरे जीवन में कोई महोत्सव नहीं है मौत है और मुझे मौत से निपटारा करना है सारथी ने कहा भी कि माना कि मौत है लेकिन बहुत दूर है घर रथ लौटा लेने की कोई जरूरत नहीं ये महोत्सव तो घड़ी भर का है मौत बहुत दूर है सारथी बुद्ध को न समझ पाया वो सारथी तुम्हारे जैसा रहा होगा बुद्ध ने कहा दूर हो कि पास जो है वो है पास दूर से क्या फर्क पड़ता है मैं मरूंगा और अगर ये सच है तो मैं मर ही गया अब मुझे उस सब तत्व की खोज करनी है जो नहीं मरता अब जितना भी क्षण मेरे पास बचे हैं इनको मुझे नियोजित कर देना उस खोज में जो मृत्यु के पार ले जाती है अब ये जीवन व्यर्थ हो गया आश्चर्य है कि तुम मरोगे रोज तुम लोगों को मरते देखते हो फिर भी तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं होता तुम धोखा देने में कितने कुशल हो कबीर कहते हैं धोखा कासू कहिए किससे कहने जाए कौन धोखा दे रहा है तुम खुद ही अपने को धोखा दे रहे हो कोई दूसरा देता होता तो शायद बच भी जाते हैं तुम खुद ही दे रहे हो इसलिए बचाव का भी उपाय नहीं निहत्ते अपने को ही वंशना में डाले हुए जो भी तुम इकट्ठा कर रहे हो वो मौत छीन लेगी अगर मौत दिखाई पड़ जाए तो संग्रह की वृत्ति खो जाएगी जिनसे तुम संबंध नाते रिश्ते बना रहे हो मौत तोड़ देगी अगर मौत दिख जाए तो आसक्ति संबंध आज ही टूट गया इसे तोड़ना ना पड़ेगा मौत का बोध तोड़ देगा तुम अनासक्त हो जाओ ये शरीर मौत तो छीन लेगी ये जलेगा धू धू करके मरघट पर यह सड़ेगा किसी कब्र में अगर मौत की प्रती हो जाए तो इस शरीर से जो भी तादाद में जो भी लगाव है वो आज ही जा चुका है तुम आज ही मर गए ज्ञानी मौत को जानते ही अपने को मुर्दा मान लेता है अज्ञानी कहता है अभी जल्दी क्या आएगी तब देख लेंगे अज्ञानी कहता है जब आग लगेगी तब कुआ खोद लेंगे ज्ञानी कहता है अगर आग लगने ही वाली है तो कुआ तैयार होना चाहिए आज ही कुआ खोद लो क्योंकि कौन खोद पाएगा कुआ जब आग ही लग जाएगी जब घर जल रहा होगा तब तुम कुआ खोदोगे पानी निकालने को आग बुझाने को तुम टाल रहे हो मौत को आग तो लगेगी तुम्हें पता है कुआ तुम नहीं खोद रहे हो आग बुझाने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं और सच तो यह है कि आग तो लगेगी ये भी तुम्हें पता हो घर में तुम घी के पीपे इकट्ठे कर रहे हो कि जब आग लगेगी तो बुझाना भी असंभव हो जाएगा तुम जीवन में जो भी इकट्ठा करते हो वो अग्नि में घृत का काम कर रहा है लाओस से कहता है जीवन से ही निकल के मृत्यु आती तुम्हारे भीतर ही बड़ी होती मृत्यु तुम्हारी ही संतान है जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा होता है और माँ से निकल के बाहर आता है ऐसी तुम्हारी मौत हरेक की मौत तुम्हारे भीतर ही बड़ी होती तुम्हारे भीतर से ही निकल के बाहर आती कोई यमदूत नहीं कोई भैंसों पर सवार होकर यम नहीं आता कोई मृत्यु का देवता नहीं है जो मृत्यु को भेजता हो जीवन ही मृत्यु का देवता है और तुम पर ही मौत सवार है तुम ही वो भैंसे हो जिस तुम मौत सवार होकर चल रही तुम इसे बाहर से आता हुआ न पाओगे अगर मौत बाहर से आती तो बचने के उपाय हो सकते थे हम अपने को बंद कर लेते एक ऐसे सुदृढ़ किले के भीतर कि बाहर से कुछ भी ना आ सकता लेकिन तब भी तुम मरोगे तुम बिल्कुल कांच की दीवारों में बंद कर दिए जाओ जहां से हवा भी ना आती हो तो भी तुम मरोगे क्योंकि मौत तुम्हारे भीतर बड़ी हो रही हाँ अगर तुम अपने को भी बाहर छोड़ाओ तो ही तुम न मरोगे वही ज्ञानी करता है वो अपने को बाहर छोड़ देता है खुद भीतर सरक जाता है मृत्यु तुम्हारे भीतर प्रतिपल बड़ी हो रही है जाग के रहना ऐसा हुआ कि एक यहूदी फकीर एक अंधेरी रात में एक ध्यान की साधना कर रहा था वो साधना थी चलते हुए स्मरण रखने की कि मैं हूं स्मरण खो खो जाता था उसी अंधेरी रात में रास्ते पे चलते हुए जब वो साधना कर रहा था उसने एक आदमी को और टहलते हुए देखा सोचा शायद वो भी साधना में लीन उसने पूछा कि तुम किस बात का स्मरण रख के भटक रहे हो तुम क्यों चल रहे हो क्या है तुम्हारी साधना उसने कहा मेरी कोई साधना नहीं मैं तो एक अमीर आदमी का वॉचमैन पहरेदार ये महल है मेरे मालिक का मैं इसके सामने पहरा देता हूं रात भर जागा हुआ मुझे एक ही स्मरण रखना होता मालिक के दरवाजे का फकीर उसके साथ ही फिर फिर टहलता रहा आखिर उस आदमी ने पूछा और मैं तो तुमसे पूछा ही नहीं आप किसका पहरा दे रहे हैं उस फकीर ने कहा कि जरा कहना कठिन मालिक भीतर है पहरा उसका दे रहा हूं लेकिन तुम जैसा कुशल नहीं 24 घंटे बहुत दूर चौबीस क्षण भी पहरा नहीं लग पाता कभी क्षण भर को लग जाए तो बहुत फिर छूट जाता फिर छूट जाता फिर छूट जाता फिर दोनों टहलते रहे फिर फकीर ने विदा होते वक्त कहा कि क्या तुम मेरे नौकर होना पसंद करोगे उस आदमी ने कहा बड़ी खुशी से तुम प्यारे आदमी मालूम पड़ते हो तुम्हारा पास होना ही सुखद था ऐसी शांति मैंने कभी किसी के पास नहीं जानी खुशी से लेकिन काम क्या होगा फकीर ने काम ये कहा यही होगा मुझे याद दिलाते रहना टू रिमाइंड मी जब जब मैं सो जाऊं मुझे जगा देना जब जब मैं होश खाऊं मुझे होश खाऊं मुझे हिला देना याद मेरी बनी रहे उसको पूछा लेकिन याद क्या कर रहे हो कौन सी चीज की याद कर रहे हो तो उसने कहा एक तरफ से मौत की याद और दूसरी तरफ से परमात्मा की याद और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इधर तुमने मौत को पूरी तरह याद किया तो उधर परमात्मा की याद अपने आप सघन होने लगती अगर तुम्हें मौत अभी दिखाई पड़ जाए तो तत्क्षण तुम्हारे हृदय से परमात्मा की पुकार और प्यास उठेगी जैसे प्यासे आदमी को पानी की याद आती मौत प्यास है मौत से भयभीत मत होना मौत तो पानी की याद है इसलिए मौत से बचना नहीं है मौत से छिपना भी नहीं छिप भी ना सकोगे बच भी ना सकोगे कोई कभी नहीं बचा हम मौत के पार जा सकते हो मौत तुम्हारे भीतर उग रही है बड़ी हो रही है तुम उसे संभाल रहे हो तुम्हारा गर्व है ये पहली बात जीवन से निकल के मृत्यु आती है जीवन के साथी अंग तेरे हैं मृत्यु के भी साथी अंग तेरे हैं और जो मनुष्य को इस जीवन में मृत्यु के घर भेजते हैं वे भी तेरे ही हैं चीन में लाओसे के समय में ऐसी प्रचलित धारणा थी धारणा ठीक भी है कि आदमी के शरीर में नौ छेद उन्हीं नौ छेदों से जीवन प्रवेश करता है और उन्हीं नौ छेदों से जीवन बाहर जाता है और चार अंग सब मिला के तेरह दो आंखें दो नाक के स्वर मुंह दो कान जन्नेन्द्री गुदा ये नौ तो छिद्र और चार दो हाथ और दो पैर ये तेरह जीवन के भी साथी हैं और ये तेरह मृत्यु के भी साथी और ये तेरह तुम्हें जीवन में लाते हैं और ये तेरह तुम्हें जीवन से बाहर ले जाते तेरह का मतलब ये पूरा शरीर इन्हीं से तुम भोजन करते हो इन्हीं से तुम जीवन पाते हो इन्हीं से उठते बैठते चलते हो यही तुम्हारे स्वास्थ्य का आधार है और यही तुम्हारी मृत्यु के भी आधार होंगे क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही चीज के दो नाम है इन्हीं से जीवन तुम्हारे भीतर आता इन्हीं से बाहर जाएगा इन्हीं से तुम शरीर के भीतर खड़े हो इन्हीं के साथ शरीर टूटेगा इनके द्वारा ही टूटेगा ये बड़ी हैरानी की बात है यही तुम्हें संभालते हैं यही तुम्हें मिटाएंगे भोजन तुम्हें जीवन देता है शक्ति देता है और भोजन की शक्ति के ही माध्यम से तुम अपने भीतर की मृत्यु को बड़ा किए चले जाते हो भोजन ही तुम्हें बुढ़ापे तक पहुंचा देगा मृत्यु तक पहुंचा देगा आंख से कान से नाक से जीवन की श्वास भीतर आती है उन्हीं से बाहर जाती नौ द्वार और चार अंग लाओ से कहता है तेरह ही जीवन के साथी तेरह ही मौत के साथी ये तेरह ही लाते हैं ये तेरह ही ले जाते हैं अगर तुम सजग हो जाओ तो तुम चौदह में हो इन तेरह में तुम नहीं हो इन तेरह के पार हो इस तेरह की संख्या के कारण चीन में और फिर धीरे धीरे सारी दुनिया में तेरह का आंकड़ा अपसगुन हो गया वो चीन से ही फैला पश्चिम में जहां तेरह का आंकड़ा अपसगुन है उनको पता भी नहीं कि क्यों अपसगुन उसका जन्म चीन में हुआ उस सुपरस्टिशन की पैदाइश चीन में हुई तो आज तो हालत ऐसी है कि अमेरिका में होटलें हैं जिनमें तेरह नंबर का कमरा नहीं होता तेरह नंबर का मंजिल भी नहीं होती क्योंकि कोई ठहरने को तेरह नंबर की मंजिल पर राजी नहीं तो बारह के बाद चौदह नंबर होता है कि तेरह शब्द से ही घबराहट पैदा होती तेरह नंबर का कमरा नहीं होता बारह नंबर के कमरा के बाद चौदह नंबर का आता होता तो वो तेरह ही है लेकिन जो ठहरता उसको नंबर चौदह याद रहता तेरह की उसे चिंता नहीं पकड़ती इसका जन्म हुआ चीन में और बड़े अर्थपूर्ण कारण से ये ये विश्वास फैला ये तेरा ही अपसगुन तुम चौदहवें हो और तुम्हें चौदहवें का कोई भी पता नहीं तुम न जीवन हो न मौत तुम दोनों के पार हो अगर तुम इन तेरह के प्रति सजग हो जाओगे जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे शरीर दूर होता जाएगा जैसे जैसे तुम्हारा होश बढ़ेगा वैसे वैसे शरीर से तुम्हारा फासला बढ़ेगा तुम देख पाओगे मैं पृथक हूं मैं अन्य हूं शरीर और मैं और और ये जो भीतर भिन्नता शरीर से अलग चैतन्य का आविर्भाव होगा इसकी न कोई मृत्यु है न इसका कोई जीवन है न ये कभी पैदा हुआ न कभी ये मरेगा एक सयानी आपनी फिर न मरना हो जिसने इसको जान के जो मरा वो सयाना वो ज्ञानी उसने जाना जो इसको बिना जाने मर गए उनकी मौत सम्यक नहीं वे यूं ही मर गए वे व्यर्थ ही जिए और व्यर्थ ही मर गए अकारण ही दौड़ धूप हुई बहुत चले पहुंचे कहीं नहीं बहुत खोजा पाया कुछ भी नहीं खोजने में सिर्फ अपने को गमाया अंत में जब वे जाते हैं उनके हाथ खाली होंगे जीसस ने कहा है खाली हाथ तुम आते हो और खाली हाथ में तुम्हें जाते देख रहा हूं और जीसस राजी थे कि तुम्हारे हाथ भर दें लेकिन तुम सोचते हो कि तुम्हारे हाथ पहले से ही भरे खाली हो तो भर दिए जाएं तुम कंकड़ पत्थरों से हाथ भरे हो और अगर जीसस या लाव से हीरे तो से तुम्हारे हाथ भरना चाहे तो तुम कहते हो हाथ खाली कहा है तुम कंकड़ पत्थर जुड़ा रहे हो तुम व्यर्थ का कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हो वो सब भी तुम्हारे साथ जल जाएगा तुम्हारी सारी संपदा तुम्हारी विपदा ही सिद्ध होती तुम उससे परेशान ही होते हो तुम उससे कुछ शांति और चैन और आनंद अनुभव नहीं करते यह कैसे होता है यह जीवन में मृत्यु का आविर्भाव ये जीने के रास्ते पर मौत की घटना ये कैसे घटती है जीवन को विस्तार देने की तीव्र कर्मशीलता के कारण अगर तुम अपने भीतर पाओगे तो मैंने दो ही तरह के लोग देखे एक जिनके भीतर और और और का मंत्र पाठ चलता है जो भी है उससे ज्यादा होना चाहिए जो भी है उससे उनकी कोई तृप्ति नहीं उनके भीतर एक ही स्वर बजता है एक ही संगीत वो पहचानते और और करोड़ रुपये हो तो भी और कोड़ी हो तो भी और कुछ भी ना हो तो भी और साम्राज्य हो तो भी और उनका मुंह उनके प्राण अभाव से भरे रहते जो भी है वो बढ़ना चाहिए लाओस से कहता है इसी कारण वे जो जीवन और मृत्यु के पार तत्व है उससे वंचित रह जाते जीवन और की दौड़ है और मौत इसी और की दौड़ का अंत अगर तुम इस दौड़ में रुक जाओ उसी क्षण मौत भी रुक गई फिर बहुत न मरना हो फिर दोबारा मरना नहीं होता तुम अपने भीतर खोजो 24 घंटे क्या पाठ चल रहा है कौन सा मंत्र तुम्हारे भीतर काम कर रहा है तो तुम पाओगे रोए रोए में श्वास श्वास में एक ही आकांक्षा है जो भी है और बड़ा हो जाए करोगे क्या इसे बड़ा करके अगर तुम्हें रहना ही नहीं आता तो मकान छोटा हो तो भी तुम बेचैन रहोगे मकान बड़ा हो तो भी तुम बेचैन रहोगे अगर तुम्हें सोना ही नहीं आता तो तुम गरीब के बिस्तर पर सो कि अमीर के राजभवन में क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम्हें भोजन करना ही नहीं आता तो तुम रूखी रोटी खाओ कि श्रेष्ठतम सुस्वादु भोजन क्या फर्क पड़ेगा दूसरे तरह का आदमी जो और की दौड़ नहीं करता है जो उसे मिला है जो भी मिला है वो उससे परितृप्त है संतुष्ट है एक गहन परितोष उसे घेरे रहता है उसके चारों तरफ एक वायुमंडल होता है परम संतोष का जो भी मिला है वो बहुत है उसके भीतर एक स्वर होता है और उसके कारण वो निरंतर धन्यवाद देता है उसके भीतर अनुग्रह का भाव होता है वो परमात्मा को कहता रहता धन्यवाद तेरा जो भी तूने दिया है उसकी भी कोई पात्रता मेरी न थी जो भी तूने दिया है वो मेरी योग्यता से सदा ज्यादा है उसके भीतर एक अनुग्रह का नाद होता रहता है उससे बैठते चलते एक परम अहोभाव से भरा रहता है ये दो ही स्वर के लोग जिनके भीतर और का नाद है वे संसारी और जिनके भीतर अहोभाव का नाद है वे सन्यासी कहा तुम रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे भीतर अहोभाव है तो तुम परम सन्यासी हो और अगर तुम्हारे भीतर और की ही और की दौड़ है तो तुम चाहे आश्रम में रहो चाहे हिमालय पर तुम संसारी रहोगे तुम अगर अहोभाव से भर जाओ तो स्वर्ग यही और अभी है और तुम और से ही भरे रहो तो तुम जहां भी जाओगे वहीं नरक पाओगे क्योंकि नरक तुम्हारे भीतर स्वर्ग भी तुम्हारे भीतर है ऐसा हुआ एक सूफी फकीर ने एक रात सपना देखा कुछ ही दिन हुए उसका गुरु मर गया है सपने में उसने देखा कि वो स्वर्ग गया है अपने गुरु की तलाश कर रहा है फिर उसने एक वृक्ष के नीचे अपने गुरु को प्रार्थना करते देखा तो वो बहुत हैरान हुआ कि अब किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो पाना था पा लिया आखिरी मंजिल आ गई स्वर्ग के ऊपर तो कुछ है भी नहीं आप किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन गुरु प्रार्थना में तो वो रुका रहा एक देवदूत गुजरता था उसने पूछा कि मैं बड़ा हैरान हूं मैं तो सोचता था पृथ्वी पे लोग प्रार्थना करते हैं स्वर्ग जाने के लिए इसलिए हम भी छाती पीटते हैं और प्रार्थना करते हैं सिर झुकाते मेरा गुरु तो स्वर्ग पहुंच गया और ये ऐसा तन में बैठा है ऐसा मगन होकर प्रार्थना कर रहा है अब किस लिए अब क्या पाने को है मैं तो जानता था सोचता था कि स्वर्ग में कोई प्रार्थना न होती होगी उस देवदूत ने कहा स्वर्ग में कोई प्रार्थना नहीं होती प्रार्थना में ही स्वर्ग होता है जिस क्षण इसकी प्रार्थना चुक जाएगी उस क्षण स्वर्ग खो जाएगा प्रार्थना स्वर्ग का द्वार नहीं है प्रार्थना स्वर्ग है प्रार्थना मार्ग नहीं है प्रार्थना मंजिल है प्रार्थना साधन नहीं है साध्य है वो कोई साधक की अवस्था नहीं सिद्ध का अहोभाव लेकिन अहोभाव तो तभी होगा जब और से छुटकारा हो जाए इसलिए समझ लेना जरूरी है कि जो आदमी कह रहा और चाहिए और चाहिए और चाहिए वो धन्यवाद नहीं दे सकता वो शिकायत कर सकता है क्योंकि वो हमेशा परेशान है हमेशा कम है अहोभाव कैसा प्रार्थना कैसी पूजा कैसी अर्चना कैसी धन्यवाद किसको जो आदमी और और की मांग कर रहा है वो परमात्मा के प्रति शिकायत से ही भरा रहेगा उसके पूरे प्राणों में शिकायत का कांटा रहेगा पीला की तरह चुपता रहेगा डंस देता रहेगा मंदिर शिकायत लेके मत जाना क्योंकि जो शिकायत लेके गया वो मंदिर कभी पहुंचते ही नहीं शिकायत लेके परमात्मा के पास जाने की कोशिश मत करना क्योंकि शिकायत परमात्मा से दूर ले जाने की व्यवस्था है मांगने उसके द्वार पर जाना मत क्योंकि मांगने का अर्थ ही है कि अभी धन्यवाद देने का क्षण नहीं आया अभी और चाहिए लाओस से कहता है ये कैसे होता है कि तुम्हारे जीवन में ही मौत पनप जाती है ये ऐसे होता है कि तुम और और और मांगते चले जाते हो because of the intense activity of multiplying life तुम और ज्यादा करना चाहते हो और ज्यादा करना चाहते हो कितनी ही कितना ही मिल जाए तरक्की नहीं होती सुना है मैंने मुल्ला नसरुद्दीन न्यागरा जलप्रपात देखने गया शिकायती आदमी अहोभाव मुश्किल है किसी चीज को देखकर तृप्त होना असंभव है किसी चीज को देखकर प्रसन्न होना मुश्किल है खड़ा है न्याग्रह जलप्रपात के पास जो मार्गदर्शक है वो प्रशंसा करता है क्योंकि ऐसा कोई जलप्रपात नहीं ऐसी अनूठी घटना है न्याग्रह लेकिन मुल्ला नस्तुद्दीन ऐसे खड़ा है जैसे कुछ भी नहीं वो मार्गदर्शक कहता है आप ऐसे खड़े हैं गौर से तो देखे ये अनूठी घटना है कितना जल गिर रहा है पता है आपको अरबों खरबों गैलन प्रति सेकंड मुल्ला ने ऐसी नजर डाली और कहा दिन भर में कितना गिरता है आंकड़े दिन भर में कितना गिरता है उस आदमी ने कहा मुझे हिसाब नहीं लेकिन आप अंदाज कर सकते हैं असंख्य गैलन और मुल्ला ने का रात भर भी गिरता रहता है लेकिन उसके मन पर कोई भाव नहीं है इस विराट घटना के करीब भी वो ऐसे ही खड़ा है जैसे बाथरूम में नल की टोटी खोल के खड़ा रहता कोई फर्क नहीं है शिकायती को तुम किसी भी क्षण में विराट से नहीं भर सकते वो विराट को भी नाप जोक कर लेता कितने गैलन दिन में रात में भी गिरता रहता वो विराट को भी माप लेगा और जब भी तुम किसी चीज को माप लोगे तुम्हारा मन कहेगा इससे बड़ा भी तो हो सकता है तो इसमें प्रभावित होने का क्या है पानी ही तो गिर रहा है कोई सोना तो नहीं बरस रहा और जितनी भी बड़ी संख्या हो इससे क्या फर्क पड़ता है अन्यथा तो एक पानी की बूंद सुबह धूप पर पड़ी एक ओस सूरज की चमकती किरणें और विराट प्रकट हो जाता है कोई न्यागरा जाने की जरूरत है एक बूंद काफी है अगर अहोभाव हो अन्यथा न्यागरा भी काफी नहीं कैसे तुम्हारे भीतर मौत बड़ी होती है लाओ से कहता तुम्हारे भीतर मौत बड़ी होती क्योंकि तुम जो हो उससे तुम तृप्त नहीं लाओ से ये कह रहा है अतृप्ति से मौत सघन होती बनती है निर्मित होती अतृप्ति मौत इसलिए तो बूढ़े मरते हैं क्योंकि बूढ़े अतृप्ति के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं बच्चों की बजाय बच्चे छोटी छोटी चीजों में तृप्त मालूम होते हैं एक खिलौना एक उड़ती तितली काफी है एक छोटा सा घास में खिला फूल पर्याप्त खजाना है छोटे बच्चे इतने ताजे और जीवन थे मौत बड़ी दूर है क्योंकि छोटे छोटे में क्षुद्र में भी विराट का दर्शन हो रहा है लेकिन ये अज्ञान के कारण हो रहा है जल्दी ही मौत प्रवेश कर जाएगी जल्दी ही शिकायत शुरू हो जाएगी जल्दी ही बच्चा भी कहने लगेगा और चाहिए फिर उसका कोई अंत नहीं एक मित्र मेरे पास आते थे एक राज्य में शिक्षा मंत्री उन्होंने मुझसे कहा मुझे नींद नहीं आती और कहने लगे न मुझे ईश्वर की खोज है न मुझे आत्मा जाननी न मुझे मोक्ष की इच्छा है मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि मुझे सिर्फ नींद आ जाए ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है मैं सब दवाइयां लेके हार चुका ट्रेंकुलाइजर लेता हूं तो सुस्ती आ जाती है नींद नहीं आती उल्टा सुबह और भी ज्यादा बेचैन उठता हूं फिर सुबह मुझे शक्ति पाने के लिए और ताजगी पाने के लिए दूसरी दवाइयां लेनी पड़ती तो आप इतना ही करें कि मुझे किसी तरह नींद आ जाए क्या ध्यान से नींद आ सकेगी और ज्यादा मेरी मांग नहीं जब वे ये बोल रहे थे तो मैंने इशारा किया और उनकी सब बातें टेप कर ली गई क्योंकि मैं जानता हूं राजनीतिज्ञ हैं इनकी बात का कोई भरोसा नहीं और ये भी मैं जानता हूं कि जब साधारण आदमी की और की दौड़ इतनी ज्यादा होती है तो राजनीतिक की तो और ज्यादा होनी ही चाहिए वो तो मनुष्य में सबसे ज्यादा पागल मनुष्य है ये कैसे सिर्फ नींद से राजी हो जाएंगे मुझे भरोसा नहीं आया उनसे ध्यान करने को कहा उन्होंने मेहनत की तीन सप्ताह बाद वो आए और कहने लगे कि ठीक है नींद तो आ गई लेकिन और कुछ नहीं हुआ मैंने कहा अब आप रुके आप भूल गए कि तीन सप्ताह पहले आपने कहा था जीवन मरण का सवाल है और आप कहते हुए आए थे कि मुझे सिर्फ नींद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और जब नींद आ गई तो आप कह रहे हैं कि और कुछ भी नहीं हुआ बस नींद आ गई जो नींद वर्षों से नहीं आई थी जो दबाव से नहीं आई थी वो आ गई लेकिन उनके मन में धन्यवाद नहीं मैंने टेप लगवाया सुना कहने लगे कि हाँ ठीक है थोड़े चौंके कहने लगे कि नहीं ऐसी बात नहीं मेरा मतलब ये था कि जब ध्यान से इतना हो सकता है तो और भी हो सकता है पर मैंने कहा कि अब आप सोच लें क्योंकि जैसे आप आदमी अगर आपको परमात्मा भी मिल जाए तो आप लौट के कहेंगे परमात्मा मिल गया और कुछ नहीं हुआ मोक्ष मिल जाए आप कहेंगे अब मोक्ष मिल गया और कुछ भी न हुआ और इस तरह के आदमी को मोक्ष नहीं मिल सकता और ये नींद भी ज्यादा देर न टिकेगी ये खो जाएगी क्योंकि आपको नींद लेने की भी पात्रता नहीं क्यों गांव देहात का गरीब आदमी जिसे एक जून रोटी मिलती है कभी वो भी नहीं मिलती गहरी नींद सोता है क्यों शहर का धनी सुखी आदमी जिसके पास सब है एक झटकी नहीं ले पाता होना तो उल्टा चाहिए कि जिसके पास कुछ नहीं है वो चिंता में सो न सके और जिसके पास सब है निश्चिंत होकर सो जाए ऐसा होता नहीं कारण कहीं और है वो जो गांव का गरीब आदमी है उसके मन में शिकायत नहीं है जो है वो उससे भी तृप्त एक जून रोटी मिल गई वो भी क्या कम हो सकता था वो भी ना मिले वो एक जून रोटी के लिए भी धन्यवाद दे रहा है उस धन्यवाद से ही उसके मन में विश्राम है वही विश्राम उसकी प्रगाढ़ निद्रा बन जाता है भिकमंगों को सोते देख के सम्राट ईर्षा से भर जाते हैं तुमने रास्ते पर भिकमंगों को सोते देखा हो दिन की भरी दोपहरी में बाजार चल रहा है कारें दौड़ रही हैं शोरगुल मचा है भूपू सब कुछ हो रहा है और कोई आदमी वृक्ष के नीचे मजे से सो रहा है सड़क की पटरी पे सो रहा है गुर्राटे की आवाजें ले रहा है और तुम अपने कक्ष में जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती जहां कोई शोरगुल नहीं होता सुखद से सुखद सैया पे पड़े करवटे बदलते रहते सम्राट ईर्षा से भर जाते हैं भिखारी को सोया हुआ देखकर क्या होगा कारण क्या होगा भिखारी को जो मिल जाता है उसकी भी उसे अपेक्षा न थी पक्का न था कि वो भी मिलेगा कोई गारंटी ना थी मिल जाए मिल जाए ना मिले ना मिले मिल गया तो धन्यवाद ना मिले तो पानी पी के सो रहे हैं जब तुम्हारी अपेक्षा कम होती तब तुम विश्राम में होते हो जब तुम्हारी अपेक्षा ज्यादा हो जाती तब तुम तनाव से भर जाते और अपेक्षा और प्रार्थना का कभी भी मिलना नहीं होता और अपेक्षा और परम जीवन के मिलने का कोई उपाय नहीं लाउस से कहता है कि यह कैसे होता है जीवन को विस्तार देने की तीव्र कर्मशीलता के कारण तुम दौड़े जा रहे हो और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए किसी दिन वो तुम्हें मिल भी जाएगा इस जगत का एक बड़ा चमत्कार ये है कि तुम्हारी नासमझियां भी पूरी हो जाती और परमात्मा ऐसा परम कृपालु है कि तुम्हारी मूर्ता को भी आशीष दिया जाता है आशीर्वाद दिया जाता है तुम्हारी क्षुद्र और व्यर्थ वासनाएं भी तृप्त करने का आयोजन कर देता तब तुम अचानक पाते हो कि सब हाथ में खुद को तुम कहीं छोड़ आए खुद को कहीं दूर अतीत में भटक आए खुद कहीं छूट गया मार्ग पर तुम तो मंजिल पर पहुंच गए सब इकट्ठा हो गया लेकिन तुम्हारी आत्मा कहीं राह में छूट गई और तब तुम्हें फिर कोई बे, बेचैनी पकड़ लेती फिर अशांति पकड़ लेती तुम सब भी पाके भिखारी ही रहोगे और इसी सब पाने की दौड़ में तुम्हारी मौत बड़ी हो रही क्योंकि तुम जीवन को चुका रहे हो तुम जीवन को संभाल नहीं रहे तुम जीवन की ऊर्जा को बेच रहे हो ठीकरों में इस जीवन ऊर्जा से परमात्मा पाया जा सकता है यही अवसर तुम तिजोड़ी भरने में लगा रहे हो इसी अवसर से आत्मा भरी जा सकती है अवसर बहुमूल्य है एक एक क्षण खोया गया वापस नहीं लौट सकता तुम जीवन की इस और की दौड़ से बचो तुम उसे देखना शुरू करो जो तुम्हें मिला ही हुआ है तुम उसकी बहुत चिंता मत करो जो तुम्हें मिला हुआ नहीं क्योंकि उसकी जिस, जिसने चिंता की वो कभी भी विश्राम को ना उपलब्ध हो सकेगा क्योंकि कितना ही मिल जाए सदा कुछ शेष रहेगा जो नहीं मिला हुआ है क्या तुम सोचते हो ऐसी कोई घड़ी आ जाएगी जब पाने को कुछ भी शेष ना रहेगा कभी भी ना आएगी अनंत है विस्तार तुम कैसे सब पा सकोगे तुम्हारे छोटे हाथों में तुम इस अनंत को कैसे समा सकोगे तुम कुछ पालोगे तो बहुत कुछ पाने को शेष रहेगा तुम कितने ही पालोगे तो भी अनंत गुना पाने को शेष रहेगा और कभी वो क्षण ना आएगा जब तुम धन्यवाद दे सको शिकायत बड़ी होती जाएगी सम्राट की शिकायत गरीब की शिकायत से भी बड़ी हो जाती जितनी वासना बड़ी होती उतनी ही बड़ी शिकायत हो जाती और शिकायत अधार्मिक आदमी का लक्षण अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं नास्तिक उसको नहीं कहता जो कहता है ईश्वर नहीं नास्तिक मैं उसको कहता हूँ जिसके जीवन में सिवाय शिकायत के और कुछ भी नहीं भला वो मंदिर जाता हो मस्जिद जाता हो गुरुद्वारा जाता हो लेकिन वो वहां भी शिकायत करता है वहां भी कहता है कि तू क्या कर रहा है तू क्या करवा रहा है बेईमान जीते जा रहे हैं मैं ईमानदार हारा जा रहा जिनकी कोई योग्यता नहीं है वो सिर पर बैठे हैं मुझ जैसा योग आदमी सड़कों पर बैठक रहा है अन्याय हो रहा है तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारी शिकायतें और प्रार्थना कहीं शिकायत हो सकती है तुम उसी दिन मंदिर पहुंच पाओगे जिस दिन तुम धन्यवाद देने जाओगे जिस दिन तुम कहने जाओगे कि मैं किसी योग्य न था मेरी कोई क्षमता और पात्रता न थी और तूने इतना दिया जिस दिन तुम्हारे पास जो है तुम्हारी पात्रता से तुम्हें ज्यादा दिखाई पड़ेगा उसी दिन प्रार्थना का जन्म होगा फिर उस प्रार्थना का कोई अंत नहीं वो बढ़ती जाती बढ़ती जाती और एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम्हारी पात्रता शून्य हो जाती उस शून्य पात्र में ही सारा अस्तित्व उतर आता है जिस दिन तुम कह पाते हो मेरी कोई भी योग्यता नहीं मैं जीवन के योग्य भी न था एक सांस भी ले सकूं अस्तित्व की इसकी भी मेरी कोई क्षमता न थी और तूने मुझे अनंत जीवन दिया जिस दिन तुम्हें इसमें परमात्मा के अनुग्रह के अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई पड़ेगा तुम बिल्कुल शून्य मात्र हो जाओ उसी क्षण फिर तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं है मृत्यु वासना की है तुम्हारा जीवन वासना है इसलिए तुम्हारे भीतर मृत्यु बड़ी होती तुम्हारे भीतर की वासना ही तुम्हारे भीतर की मृत्यु है जो निर्वासना को उपलब्ध हुआ वो अमृत को उपलब्ध हो गया कहते हैं जो जीवन का सही संरक्षण करता है उसे जमीन पर बाघ या भैंसे से सामना नहीं होता न युद्ध के मैदान में शस्त्र उसे छेद सकते हैं जंगली भैंसों के सींग उसके सामने शक्तिहीन है बाघों के पंजे उसके समक्ष व्यर्थ हैं और सैनिकों के हथियार निकम्मे हैं यह कैसे होता है क्योंकि वह मृत्यु से परे है कृष्ण ने गीता में यही कहा है नैनम छिदंती शस्त्राणी ना तो तुझे शस्त्र छेद सकते नैनम दहती पावक न अग्नि तुझे जला सकती लेकिन शरीर तो जल जाता है शरीर को तो छेद देते हैं शस्त्र और युद्ध के मैदान पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कैसा झूठ बोल रहे हैं युद्ध के मैदान पर जहां की मृत्यु अपनी प्रगाढ़ता में प्रकट होती जहां की अर्जुन को साफ दिखाई पड़ रहा है कि मेरे प्रिजन सगे बंधु बांधव मेरे गुरुजन ये सब थोड़ी ही देर में मिट्टी चाटते होंगे थोड़ी ही देर में हम धूल धूलसित हो जाएंगे खून हमारा जमीन पर बह रहा होगा शरीर कटे हुए पड़े होंगे लाश और लाश के पहाड़ लग जाएंगे वहां कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि नहीं तुझे न शस्त्र छेद सकते हैं और न अग्नि जला सकती है ये ऐसे ही जैसे मरघट पर कोई जल रही हो लाश और मैं तुमसे कहूं कि घबराओ मत आग तुम्हें जला नहीं सकती लेकिन कृष्ण ठीक ही कह रहे हैं वो कोई मजाक नहीं कर रहे ना कोई झूठ बोल रहे हैं क्योंकि तुम जो हो उसका तुम्हें पता ही नहीं अग्नि में जो जलता है वो तुम नहीं हो शस्त्र जिससे छिल जाते हैं वो तुमसे बाहर है वो तुम्हारा आवास हो भला तुम्हारा वस्त्र हो तुम नहीं हो थोड़ी देर तुम रुके हो पड़ाव हो भला लेकिन तुम्हारी सत्ता नहीं तुम तो चैतन्य हो तुम शुद्ध चैतन्य हो शुद्ध चैतन्य को कैसे शस्त्र छेदेंगे चेतना को शस्त्र छुएंगे कैसे चेतना को अग्नि में जलाओगे कैसे चेतना अग्नि का कोई मिलन ही नहीं हो सकता लोग कहते हैं पानी और तेल को नहीं मिलाया जा सकता लेकिन फिर भी पानी और तेल को मिलाने की कोशिश की जा सकती लेकिन अग्नि और चेतना को तो मिलाने की कोशिश भी नहीं हो सकती चेतना कैसे जलेगी लाभ से यही कह रहा है वो ये कहता है कि कहते हैं जो जीवन का सही संरक्षण करता है जो जीवन का ठीक ठीक सम्यक उपयोग करता है जीवन को वासना में नहीं गमाता समय को और की दौड़ में नहीं लगाता अभाव के पीछे नहीं भागता जो जीवन को संरक्षण करता है क्या है संरक्षण तुम दो तरह से जी सकते हो एक तो फूटी बाल्टी की तरह कुएं में डालो शोरगुल बहुत होता है बाल्टी भरती भी दिखाई पड़ती है जब पानी में डूबती है कुएं के तो भर जाती है फिर खींचो बड़ी आवाज मछली शुरू होती है क्योंकि सब तरफ से पानी गिरना शुरू होता है और ऐसा लगता है कि बाल्टी पूरा सागर लेके आ रही लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ तक पहुंचती खाली हो जाती वो शोरगुल सागर का नहीं था वो शोरगुल छिद्रों का था वो शोरगुल इसलिए नहीं हो रहा था कि बाल्टी बड़ी विराट घटना को लेके आ रही थी वो इसलिए हो रहा था कि बाल्टी हजार हजार छिद्रों से भरी थी तो एक तो फूटी बाल्टी की तरह का जीवन है मरते दम तुम पाओगे कि तुम्हारे छेद से सब बह गया जो भी तुम लेके आए थे वो तुमने गंवा दिया और बदले में तुम कुछ भी लेके नहीं जा रहे हो जीवन यू ही गया दूसरा एक ऐसा जीवन है जिस बाल्टी में छिद्र नहीं उसी को लाओ से संरक्षण कह रहा है वासनाएं तुम्हारे छेद हैं जिनसे जीवन की ऊर्जा बह जाती जब भी तुम वासना से भरते हो तभी तुम अपने को गंवाते हो निर्वासना संरक्षण है इसलिए तो बुद्ध महावीर सभी का एक जोर है कि तृष्णा छोड़ दो वासना छोड़ दो मांगो मत जो है वैसे ही काफी है तुम जो है उसको जी लो और जितने कम से चल जाए क्योंकि वो कम भी तुम्हारी वासना के कारण मालूम पड़ता है वासना हटाओगे तो तुम पाओगे वो कम कभी था ही नहीं बहुत बार तुमसे मैंने कहा है अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक लकीर खींच दी और कहा इसे बिना छुए छोटा कर दो दरबारी बड़ी परेशानी में पड़ गए न कर पाए छोटा बिना छुए करोगे भी कैसे फिर उठा बीरबल और उसने एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी बिना छुए लकीर छोटी हो गई तत्ण तो छोटी हो गई तुम्हारे पास जो है वो बहुत थोड़ा मालूम पड़ रहा है क्योंकि बड़ी वासना की लकीर तुमने खींच रखी वो थोड़ा नहीं है वो जरूरत से ज्यादा है परमात्मा सदा जरूरत से ज्यादा देता है वो कोई कृपण नहीं है और अस्तित्व कोई सौदा थोड़ी कर रहा है तुम्हारे साथ और अस्तित्व का तो देना आनंद है ओवरफ्लोइंग है अस्तित्व तो ऊपर से बह रहा है ये अस्तित्व है ही इसलिए तो परमात्मा के पास जरूरत से ज्यादा है ये उसका आनंद है बांटना बिना बांटे वो नहीं रह सकता इसलिए तुम ये मत सोचना कि तुम्हें जरूरत के हिसाब से दिया जा रहा है तुम्हें तो जरूरत से सदा ज्यादा दिया जा रहा है लेकिन तुम वासना की बड़ी लकीर खींचते चले जाते और कितना ही तुम्हें मिलता जाए तुम्हारी लकीर बड़ी होती जाती तो जो भी तुम पाते हो वो सदा थोड़ा मालूम पड़ता है जब तक वासना है तब तक तुम गरीब रहोगे तब तक तुम भिखारी रहोगे जिस दिन कोई वासना न रही उस दिन तुम्हारा सम्राट प्रकट होता है उस दिन फिर तुम सम्राट हो राम स्वामी राम अपने को बादशाह कहते थे लंगोटी थी उनके पास एक और जब किसी ने पूछा अमेरिका में कि क्यों कहते हो तुम अपने को बादशाह कुछ तुम्हारे पास है नहीं तो राम तीर्थ ने कहा इसीलिए मेरी कोई जरूरत नहीं और कोई मांग नहीं तो तुम मुझे भिखारी कैसे कह सकते हो और जो भिखारी नहीं वही सम्राट है एक फकीर के घर एक अमीर आदमी एक बार मेहमान हुआ फकीर का घर था उसमें ज्यादा कुछ साथ सामान न था थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें थी बस काम चल जाए इतनी थी क्योंकि कम में काम चलाने की कला फकीरों को आती अमीर बड़ा परेशान था जब रात सोने लगा तो फकीर उसके द्वार पर आया और उसने कहा कि देखो कोई ऐसी चीज जो यहां ना हो और तुम्हें जरूरत मालूम पड़े तो मुझे बता देना तो समीर आदमी ने मजाक का बताने से क्या होगा तुम करोगे भी क्या जो है ही नहीं मैं बता भी दूं तो तुम करोगे क्या उस फकीर ने कहा मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा कि उसके बिना कैसे काम चलाया जाए how to do without it कोई मैं चीज लाने वाला नहीं हूं यहां चीज है ही नहीं वो मुझे भी पता है लेकिन जब मैं जी रहा हूं देखो तो तुम भी जी सकते हो तो अगर कोई अड़चन मालूम पड़े तुम मुझे बता भर देना फिर मैं तुम्हें तरकीब बता दूंगा कि उसके बिना कैसे चलाया जाए यूनान में एक फकीर हुआ डायोजनीस वो महावीर जैसा फकीर था नग्न ही रहता था दुनिया में डायोजनीस और महावीर समानांतर और करीब करीब एक ही समय में हुए जब वो फकीर हो गया और नग्न घूमने लगा तो एक भिक्षा पात्र उसने अपने पास रखा था जिसमें वो पानी पी लेता था रोटी ले लेता था फिर एक दिन उसने देखा एक झरने में कुत्ते को पानी पीते देखे देखते उसने फौरन भिक्षा पात्र फेंक दिया और कुत्ते के जाके चरणों में नमस्कार किया कि गजब कर दिया तूने भी मात दे दी हम ये सोचते थे कि बिना भिक्षा पात्र के पानी कैसे पिए उस दिन से वो कुत्ते जैसा ही पानी पीने लगा और जब लोग उससे पूछते ये क्या है तो उसने कहा जब एक कुत्ता चला लेता तो मैं कोई कुत्ता से गया बीता तो नहीं जैसे कुत्ता इतना बुद्धिमान है बिना भिक्षा पात्र के चला लेता है तो मैं कितना ही गया बीता हूं कुत्ते से गया बीता तो नहीं हम भी चला लेंगे अगर कुत्ता इतनी फकीरी का शान शान रखता है तो हम कोई कुत्ते से छोटे फकीर नहीं और जिस कुत्ते को उसने पैर छुए थे और जिस कुत्ते से उसने सीखा था कहते हैं वो कुत्ता फिर सदा डायोजनीस के साथ रहा जब सिकंदर डायोजनीस को मिला तब वो कुत्ता भी पास बैठा हुआ था डायोजनीस के वो दोनों रहते थे एक कचरे घर के आसपास टीन का पोंगरा रख देते हैं कचरे को रोकने के लिए ऐसा ही एक पोंगरा उसको कहीं पड़ा हुआ मिल गया था उसी पोंगरे को आगा कर लिया था उसमें वो दोनों रहते थे सिकंदर जब मिलने आया तब कुत्ता भी पास बैठा हुआ था और जब सिकंदर ने डायजनीस से प्रश्न पूछे तो सिकंदर को भी उत्तर देता था बीच बीच में वो कुत्ते से भी कहता था सुन ले सिकंदर ने पूछा कि क्या बकवास है तुम बात मुझसे करते हो इस कुत्ते से क्या कहते हो सुन ले और कुत्ता भी ऐसे ढंग से बैठा था लगता है सुनता है और जब कहता डायोजनीस सुन ले तो वो सिर हिलाता तो डायजनी ने कहा कि आदमियों को मैंने इस योग नहीं पाया तो उनसे कुछ समझ की बातें की जा सके ना समझी की बातें कितनी ही कर लो समझदारी की बात आदमियों से नहीं हो सकती ये पुख्ता बड़ा समझदार है और बड़ी से बड़ी समझदारी की बात तो यह है कि मैं कितना ही बोलूं ये चुप रहता है ये मुझसे भी ज्यादा समझदार है कभी बेवक्त वक्त सिर हिला देता है इशारे में बात करता है बड़ा ज्ञानी है ना कुछ से काम चल सकता है और सब कुछ से भी काम नहीं चलता तो जरूर सवाल ना कुछ और सब कुछ का नहीं हो सकता तुम पर निर्भर है सब तुम पर निर्भर है सब कुछ से भी काम नहीं चलता ना कुछ से भी काम चल जाता है जितना तुम ना कुछ से काम चला लेते हो उतनी ही वासना की लकीर छोटी होती चली जाती जिस दिन लकीर पूरी विदा हो जाती उस दिन अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर की चैतन्य की प्रतिमा तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी गरिमा में प्रकट हो गई अब उसे छुपाने वाला कोई धुआं ना रहा तब सब बदलियां हट गई आकाश नीला आकाश सामने जो जीवन का सही संरक्षण करता है इसका अर्थ हुआ जो तृष्णा से मुक्त होता है और तृष्णा में अपने जीवन ऊर्जा को नष्ट नहीं करता जिसकी बाल्टी छेद वाली नहीं उसे जमीन पर बाघ या भैंसे से सामना नहीं होता न युद्ध के मैदान में शस्त्र उसे छेद सकते जंगली भैंसों के सींग उसके सामने शक्तिहीन है बाघों के पंजे उसके समक्ष असमर्थ और सैनिकों के हथियार निकम्मे तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे शरीर को छेदा ना जा सकेगा तुम ये भी मत सोचना कि तुम्हारे शरीर को आग न लगाई जा सकेगी तुम ये भी मत सोचना कि से तुम्हारे शरीर में सींग न प्रवेश कर सकेंगे लेकिन तुम शरीर में रह जाओगे जिसने अपनी ऊर्जा को संरक्षित किया वो अशरीरी हो जाता है तकनीक भी तुम्हारे शरीर में भैंसा चुभा रहा हो और शस्त्र भाला तुम्हारे शरीर को आर पार जा रहा हो तो भी तुम साक्षी ही रहोगे तब भी तुम जानोगे कि ये तुमसे बाहर घट रहा है तुम्हारे आसपास जरूर पर तुम में नहीं जिससे तुम्हारे घर में कोई दीवार को छेद दे इससे तुम में छेद नहीं हो जाता जैसे तुम्हारा पस वस्त्र जरा जीर्ण हो जाए उसमें छिद्र हो जाए तुम में छिद्र नहीं हो जाता तुम्हारे शरीर के छिद्र तुम्हारे छिद्र नहीं है शरीर तो मौत का ग्रास है ही वो मरण धर्म है वो मरेगा ही बुद्ध का शरीर भी मर जाता है कृष्ण का शरीर भी मर जाता है राम का शरीर भी धूल में खो जाता है तुम्हारा भी खो जाएगा क्योंकि शरीर धूल से उठता है वो धूल से ही आया धूल में ही जाना उसकी नियति है क्योंकि जो जहां से आता है वहीं वापस चला जाता है तुम में दो तत्व है एक तो पृथ्वी से आया है और एक आकाश से उतरा है जो आकाश से उतरा है वही तुम हो जो पृथ्वी से आया है वो केवल तुम्हारा आवरण है वो तुम्हारा वेस्टन है तुम उससे आच्छादित हो पृथ्वी पृथ्वी में वापस लौट जाएगी उसकी मृत्यु सुनिश्चित है वो उसका स्वभाव है लेकिन वो मृत्यु तुम्हारी नहीं ये तुम उसी दिन जान पाओगे जिस दिन तुम तृष्णा रहित होकर अपने भीतर जागोगे क्यों तृष्णा रहित होकर क्योंकि जो तृष्णा से भरा है वो जाग ही नहीं सकता तृष्णा शराब है वो बेहोशी है वो अंधापन है सुना है मैंने एक यहूदी फकीर वृद्धावस्था में अंधा हो गया एक गांव से गुजर रहा था अंधा था किसी ने दया की और कहा कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए यहाँ एक बड़ा चिकित्सक है वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देगा उस फकीर ने कहा लेकिन आंखें ठीक करवा के करना क्या है क्योंकि जो आंखों से देखा जा सकता था खूब देख लिया कुछ पाया नहीं और जो आंखों के बिना देखा जा सकता है उसे देख ही रहे हैं और खूब पा रहे हैं तो एक तो संसार है जो आंखों से देखा जा सकता है लेकिन शरीर की आंखें वही देख सकती हैं जो शरीर जैसा है पदार्थ को देख सकती हैं पार्थिव को देख सकती हैं पृथ्वी को देख सकती हैं और एक वो भी है जो आंख बंद करके देखा जाता है उसे देखने के लिए इन आंखों की कोई जरूरत नहीं उसे देखने के लिए आंख की ही जरूरत नहीं उसे तुम्हारा हृदय उसे तुम्हारी अंतरात्मा देखती और जानती वो आंख बंद करके भी देख लिया जाता है उस फकीर ने ठीक ही कहा कि जो इन आंखों से देखा जा सकता था खूब देख लिया कुछ पाया नहीं और जो इनके बिना देखा जा सकता उसे खूब भरपूर देख रहे हैं और खूब पा रहे हैं आंखों को ठीक करवाना किसे करवा के आंखें ठीक क्या करेंगे यह कैसे होता है कैसे भीतर की आंख खुलती है कैसे अमृत के दर्शन होते हैं कैसे शरीर के पार तुम हो जाते हो जहां मृत्यु नहीं पहुंचती जहां शस्त्र नहीं छेदते जहां आग नहीं जलाती कैसे जहां तुम बूढ़े नहीं होते जहां जरा जीर्णता नहीं आती कहता है लाश से यह होता है मृत्यु के परे होकर क्योंकि वह मृत्यु के परे because he is beyond death जैसे ही तुम जान लेते हो कि तुम मृत्यु के परे हो और तुम हो ही इसलिए जानने में तुम देर कितनी ही लगाओ कठिनाई कुछ भी नहीं है टालो तुम कितना ही जानने को जिस दिन जानना चाहोगे उसी दिन जान लोगे आंख भर बंद करने की बात है अपने को ही देखना है कहीं जाना भी नहीं है कोई यात्रा भी नहीं करनी कोई शर्त भी नहीं पूरी करनी किसी और से सौदा भी नहीं कोई कीमत भी नहीं चुकानी बस आंख बंद करनी है थोड़ा तृष्णा को शिथिल करना है ताकि दौड़ बंद हो दौड़ चलती रहे तो अपने घर कैसे आओगे दौड़ चलती रहे तो तुम कहीं और कहीं और ये और की जो भीतर चल रही सतत धारा है इसे थोड़ा कम करना है ताकि तुम शांत बैठ सको बैठते हो तुम ध्यान में तब हजार विचार चलते हैं मन दौड़ा ही रहता है शरीर ही बैठा रहता है शरीर को बिठाने से क्या होगा वो जो दौड़ा हुआ मन वो बैठना चाहिए वो बैठ जाए तत्म दर्शन हो जाए इधर मन बैठा उधर आत्मा प्रकट हुई और वो आत्मा अमृत है वो न तो जीवन न वो मृत्यु है वो दोनों के पार है जब बिल्कुल जीवन नहीं था तब भी वो थी और जब सारा जीवन खो जाएगा तब भी वो होगी वो शाश्वतता है उस आत्मा को ही हम सत्य कहते हैं सत्य का अर्थ होता है जो शाश्वत है जो सदा है सदा था सदा रहेगा जिसके होने में कभी भी कोई भेद नहीं पड़ता सब बदल जाए पूरी सृष्टि प्रलय में चली जाए नई सृष्टि हो जाए लेकिन वो रहेगा वैसा ही जैसा था उसके स्वभाव में रंच मात्र फर्क ना है वही सत्य है वैसे सत्य को तुम अपने भीतर लिए चल रहे हो तुम्हें परमात्मा ने सभी कुछ दिया है लेकिन जो संपदा तुम्हारे पास है उसको भी तुम नहीं देख पा रहे हो दौड़ के कारण तुम बैठ नहीं पाते वासना के कारण तुम शांत नहीं हो पाते और के मंत्र के कारण राम का मंत्र नहीं जप पाते इसे देखो इसे पहचानो इसे अपने भीतर विश्लेषण करो क्योंकि लाओसे के वचन किसी दार्शनिक के वचन नहीं लाओसे के वचन एक ज्ञानी के वचन है एक परम ज्ञानी के और वो तुमसे जो भी कह रहा है वो प्रयोग के लिए कह रहा है वो तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा है न तुम्हें किसी शास्त्र में बांधने का आयोजन न तुम्हें कोई रूढ़ अनुशासन दे रहा है तुम्हें सिर्फ एक बोध दे रहा है उस बोध की सुवास को तुम पकड़ो अपने भीतर तो ही लाओसे की सही सही व्याख्या तुम्हारी समझ में आएगी अपने ही भीतर तुम जब जागोगे तब तुम पाओगे कि लाओसे ने जो कहा है वो कैसा अनूठा है लेकिन बिना जागे मैं कितने ही तुम्हें समझाऊं और तुम कितने ही तुम्हें लगे कि समझ रहे हो समझ पैदा ना होगी लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात तुम देखोगे अपनी ही आंख से तो ही जानोगे लोग स्वाद तो ही जानोगे गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए तब एक मुस्कुराहट तुम्हारे तन प्राण को भर लेगी तब तुम्हारा रोआ रोआ मुस्काएगा क्योंकि तुमने एक स्वाद ले लिया स्वाद से ही समझ होगी जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये स्वाद की तरफ इशारा है ये असली समझ नहीं इससे असली समझना होगी इसे तुम असली समझ में समझ लेना नहीं तो रुक जाओगे इससे तो तुम पंडित बन जाओगे इसको पंडित मत बनाना इसको तो सिर्फ इशारा समझना मील का एक पत्थर जिस पर लगा है तीर उधर बैठ मत जाना थोड़ी देर विश्राम कर लेना विश्राम करना हो तो मेरे शब्दों के साथ थोड़ा विश्राम कर लेना करना हो तो लेकिन यात्रा करनी है ये सारा समझाना इसलिए है ताकि तुम स्वाद ले सको और स्वाद मिल जाए तभी असली समझ आएगी उसके पहले उसके पहले न कभी आई ना आ सकती आज इतना ही